नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने प्रस्तुत है मनोहार पत्रिका पत्र पेटिका सुबह सुबह झांकी हमने आज हमको दर्शन दे गए श्री गणपति महाराज श्री गणपति महाराज लग्न की मिली पत्रिका जिस पर अपना नाम संघ परिवार भी लिखा बेशक जिसके कोई मेरे मित्र के मित्र थे गणेश जी के दाएं बाएं पीछे के चित्र थे अतिथि बनकर तिथि पर जा पहुँचे जन्मा से हम अतिथि बनकर तिथि पर जा पहुँचे जन्मा से जहाँ कोल्ड ड्रिंक खींच रहे जन्मों के प्यासे हमने कहकर पानी हमने कहकर पानी ज्यों ही हाथ बढ़ाया पानी नहीं है ताऊ एक बैरा चिल्लाया लिमका कोक पेप्सी मिरिंडा या स्प्राइट बोला ताऊ हार्ड बनाओ या कुछ लाइट सरस्वती ने दिया साथ सरस्वती ने दिया साथ और हम वापस आए बिन पिए ही कदम हमारे डगमगाए एक चबूतरा देख साफ सा आकर टिक गए डोंगा सिस्टम देख देख बिन खाए झिक गए मन ही मन में सोच रहे क्या सिस्टम आया इतने में बिजली सी चमकी घन घर जाया कान के पर्दे फाड़ कान के पर्दे फाड़ घुसा सुर यू आ करके हट जाता ने नाचन वैजी भर के कान के पर्दे फाड़ घुसा सुर यूं आ करके हट जाता ने नाचन वैजी भर के अपनी लांग संभाल पकड़ लिया चारपाई अपनी लांग संभाल पकड़ लिया चारपाई चादर में मुंह ढका कान में रुई लगाई सफ़र के मांदे थे सफ़र के मांदे थे जल्दी ही बिक गए घोड़े कानों में पर गूंज रहे सुर थोड़े थोड़े मुर्गे की सुन बांग मुर्गे की सुन बांग सुबह जब चादर खींची डांसी के संग कर हमने मुट्ठी भींची हक्का बक्का हुए अभी बारह ही बजे हैं उल्लू चमका दड़ियारो तुम्हारे तो मजे हैं ये कम वक्त मुर्गा कब से डीजे पर आया कुक्कू चिल्लाया करवट बदल बदल कर हमने रात गुजारी सुबह सुबह की सात बजे ही पकड़ी लारी शादी से मैं खूब अघाया घर में आया श्री गणपत महाराज को आके शीश नवाया अपरम पार तेरी माया अपरम पार तेरी माया